ब्रह्म विचित्र साक्षात एक आत्मतत्व को ब्रह्म को विचित्र मन से प्रकार से ज्ञान करके जानना ही नहीं साक्षात्कार मेरा जीवन ब्राह्मण ऐसा जो भीम भीमान ब्राह्मण है मन के ऐसा नहीं याद इस शरीर में जो हम मन का उसको त्याग हमारा हम भाव रक्षा अविद्या रूपा अस्माद लोका अस्मार्थ लोग का अस्मार्थ है अस्मत लोग क्या है कहते अविद्या अविद्या रूपा अहंकार अहंकार का जो व्यवहार है यही क्या है अस्मत लोग है ये हमारे लोग और इसी से कैसे होगा वो सर्वास्वरूपत्व भाव अद्यंतम आपन्ना सिंधु अमृता सर्वाचगत भाव सर्वाचगत भाव को जो है प्राप्त अद्वैत भाव को प्राप्त करते हुए तो अमर हो जाते हैं प्रमाण है अरे ब्रह्मई भवंती अमृता भवंती अर्थ ब्रह्मई भवंती सयो वही तत्म ब्रह्म देगा ब्रह्मई शब्द है तीन दो नौ इस प्रकार से तीनों से जो तो दो खंड एक दो खंड में सत्ता तत्व का निर्देश किया जो तत्व है ब्रह्म तत्व आत्म सत्ता है उसका निर्देश कर दिया गया उत्तम आदि की उत्तमाधिकारी के लिए आवश्यक बातों को कह दिया और मध्यम और निंदाधिकारी के लिए तीसरा छोड़ इसीलिए पहला जो खंड को हम कहते हैं कि सत्ता निर्देशक खंड तीसरे कारणगत और अंतिम जो होता है तो साधन तत्व निर्देशक खंड सत्तागत दो खंडों में कारणगत एक खंड में और साधन तत्व अंतिम चौथा खंड से बोलेंगे प्रथम जो खंड प्रणाली के लिए था तो जो सत्ता सामान्य कथन मात्र से वो आदमी उसको समझ लेता है प्रतिबोधिकरण के द्वारा उसका अनुभव करने में शिक्षण हो जाता है तो मध्यम और कार्य है वो नहीं समझ सकते तो जो कार्य का अनुभव के बिना वो अकल लगी ही सभी के सत्ता सभी का आधार तो सभी का प्रकाश सामान्य रूप से प्रकाश को जितना भी कहोगे उसके अकल में घुसता नहीं समझ नहीं सकते ग्रहण नहीं करता पूर्व कथा में रहता है शब्द कारण जो कुछ भी हो रहा है हमारा जीत है चाहे हार है हमारा खाना पीना रहना हमारे साथ जो भी होता है उन सब का कारण नहीं है कार्य कारण भाव को तो कर पर मध्यमाधिकारी समझ पाता है और मंदाधिकारी को तो क्या तो चाहिए कथा की मैंने समझ नहीं करते उसके दिमाग जाएंगे उसको तो कथा जो लिखते किसी जमाने में देवता लोग रसुर लोग थे आपस में लड़ाई लड़े और कहानी बता करके समझाएंगे तब उसके दिमाग में पूरी घटना मध्यवादी का मध्यमाधिकारियों के लिए कारण तत्व निर्देश द्वारा उसी ब्रह्म तत्व का पुनर्निवेश किया जा रहा है ब्रह्म हरिभ्यो और उसकी भूमिका में जो कई विकल्प कर रहे हैं भाषिका कई विकल्प अनेक कारण की आवश्यकता खंड के तात्पर्य संग्रहण करता हुआ अनेक विकल्प अविज्ञान विजानता विज्ञानम अविजानता इत्यादि श्रवणा यदत्थित विज्ञानम विज्ञातम प्रमाणे नापित विज्ञातम सुशिविषाण कल्पम अत्यंतम अदृष्ट पूर्व पक्ष की सकता है अविज्ञात विजानता जानने के लिए योग आग्रम विज्ञाप है ये आपने जो कहा है इत्यादियों का पूर्व पक्ष उत्पादित कर दे मन बुद्धि वाला पुरुष मोहित होकर ऐसे उद्धार कर क्या करेगा श्रवणाद यदक्ति इत्यादि का श्रवण से जो यदक्ति पद विज्ञान प्रमाण ही तथे प्रमाणम के द्वारा जो विज्ञान है वही है जो प्रमाणम के विज्ञान नहीं है मन बुद्धि में नहीं कोई अरे हमारे इंद्रिय का विषय ब्रह्म नहीं हुआ इसलिए ब्रह्म नहीं है और तो अत्यंत सत्य है कि जो है पहले दो खंडों में पावादार वो खपुष्प की व्याख्या है ऐसा मन बुद्धि वाला बोलता है कहते तो खपुष्प है क्या तो पिता ने वो एक कह श्लोक वैसे ये कह रहे लग रहा है कौन सा श्लोक खपुष्प विशेष में ग्रहण कर रहा है खपुष्प विषय कर रहा है ये सुगंध्या पुत्रो विवेको याति ये मृदकृष्णाम स्नात है ये सुगंध्या पुत्र विवेको याति का ये बना लिया खपुष्पों का शिखर बना लिया मुकुट बना लिया और ये मृग कृष्णकार के जल में खूब बढ़िया नहाया धोआ ऐसा जो इंदिरा पुत्र विवेक वो जा रहा है तो ऐसा एक इस रात जाएगा लेकिन पूरा दो खंड जो गया सोत्र से सोचा सब बकवास ऐसा मंदाधिकारी उल्टा सोचता है क्यों उसके लिए क्या है प्रमाण तो ज्ञातम दयोस्ती नास्तिक ज्ञात और प्रमाण कर जो विज्ञात नहीं होगा वो है नहीं शिश विषाण कल्पम अत्यंत शिश विषाणु के समान अत्यंत सखी होता है ऐसा उसने तथा इधम ब्रह्म अविज्ञात यदि मंदबुद्धि नाम व्यामोह दीदी पदार्थायुर्मात्मा इस प्रकार से मनुष्य भूलाने को भी आगे भी न हो गए तो ब्रह्म को ही अविद्या का अत्यंत सत्य है ऐसा ग्रहण न करें अतएव जो है उनको गोल कराने के लिए इस आख्याय का आरंभ किया गया ब्रह्म सर्व प्रकारेण प्रशास्त्री देवानम भी परो देव ईश्वराना ईश्वर दुर्विज्ञ देवान जीवित रसराणाम भाग हेतु अनुकूलानी उत्तराणी क्योंकि में क्या बताना जा रहे वह यह जो सत्ता तत्व का जो ब्रह्म है वह सर्व प्रकार सभी का प्रशासन करने सर्व प्रकार देवानाम परा देवा देवताओं से भी ईश्वरम यानी समर्थम यानी समर्थ ईश्वरानामती ईश्वर समर्थन का सामर्थ्य रूपा हुई है वह दुर्विद्य तो है वह अत्यंत दुर्विद्य देवताओं का जय का कारण और असुरों के पराजय का कारण दुर्विद्य काम तत्व निवेश में तो पराजय का भी कारण वही है विजय का भी कारण ऐसे उस वस्तु को ऐसा जो तत्व ब्रह्मा खतरनाक थी कैसे नहीं हो सकता हमारा शरीर है वो क्योंकि अर्थ से पुरानी इस अर्थ का प्रतिपादन करने के अनुकूल उत्तराणी वचांसी आगे के मंत्र इसमें आ रहे हैं दृश्य एक अवतरण का ये हुआ अथवा दूसरी अवतरण क्या दे रही ब्रह्म विद्या तो ब्रह्म विद्या का तो सिद्धि करने की बात है पूर्वोक्त ब्रह्म विद्या है उसी को भी कार्य कारण भाव से रहित है ऐसे उस ग्रह को भी कारण स्थिति कर दिया पूरे तो ग्रह को उसके साधन कथन द्वारा उपासना द्वारा उसके तो तीसरा खंड ये जो कारण खंड है और चौथा खंड उपासना बताने वाले हैं उसमें नाम बताएंगे तो उस ब्रह्म का क्या नाम है उसे बताने वाले हैं तो इसीलिए जो उपासना खंड साधन खंड साधन तत्व को कथन करता है के अंदर कह रहे हैं कि देखो यहाँ जो है इसको भ्रम का दो प्रशंसा करने वाले दोनों को उपासना को कारण के करने में निर्देशित किया गया इन दोनों के द्वारा शुद्ध भ्रम की प्रशंसा किया गया कथम भ्रम विज्ञानाधी और देवा देवान सृष्टि स्त्री की समझ सकती है इस तरह से बताओ उस ब्रह्म को जानने मात्र से ही इंद्र देवता में क्या हुआ देवताओं में सृष्टि इंद्र वायु और अग्नि ये तीन देवता ही सभी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ देवताओं में माना जाता है किंतु श्रेष्ठत्व का कारण क्या है वो सारे देवता देवता में देवता है उनमें इंद्रियों में तो क्यों आ गया क्योंकि उन्होंने ब्रह्म को जाना कोई बिल्कुल उनसे वार्तालाप कर लिया करके उसके हाँ, जो है सगुण अत्यंत अदृश्य सूक्ष्म सगुण रूप के साथ एक दर्शन कर संदर्शन हुआ दूसरा नजदीक जाके आ गया तीसरा दूर से भाग गया लेकिन गए तो सब उसके पास दूसरा कुंभार बातों की कुछ तो बोले दिल से तो इसलिए समझो कि ये सब जो है श्रेष्ठ होंगे क्योंकि ये ब्रह्म विज्ञान वाले ही ब्रह्म विज्ञान आदि अग्नि आदि विवाह देवानाम श्रेष्ठतम जिग्रह तथो भी सीताराम उन आदियों के पेशा से भी और ज्यादा श्रेष्ठ कौन हुआ इसलिए ब्रह्म विज्ञान के वजह से जिसको अत्यंत अप्रोक्ष हो गया वह इंद्र सर्वश्रेष्ठ वो राजा हो और बाकियों को सर्वचेता में तारतम्यता होती है स्पष्ट नहीं जान पाए ना साक्षात्कार हुई नहीं बाद इंद्र आगे बताया केवल इसलिए उन लोगों को परोक्ष ज्ञान नहीं था लेकिन परोक्ष ज्ञान वाला होने के बावजूद उनकी देखो तो कितनी पूजा कितने मान सम्मान अग्नि और भाई पूजा है विपरीत परोक्ष श्रोत्र घूम रहे हैं क्या कर रहे हैं लिए उनका मान सम्मान सिर स्थिति गुरु को कार बार सब कुछ तेल डॉक्टर खरीद कौन तो को भौतिक संपदाओं से कोई फल नहीं मिला केवल परोक्ष विज्ञान का इतना फल मिले और अप्रोक्ष कुछ हो जाए तो कोई कुछ नहीं मिलेगा मिलेगा ना वो मिलेगा उसके से जरूरत ही नहीं तो चौथी रह जाता है लेकिन नहीं होगी तो चाहेगा भी नहीं तो चाहो पसंद तो है उसको कोशिश भी करें ले जाओ चाह भी नहीं रहेगा उधर ख्याल आ गया तो कृष्ण पड़ा रहेगा उदय आसन दास रहेगा जो आ गया धीरे गए छको आ गया ना दुखाओ नहीं आए तो चाहे हम इंद्र जाति तीन यादव एक और दुर्विज्ञम ब्रह्म इतने सुदूर दर्शक है ब्रह्म अत्यंत दुर्विज्ञ उसी को दर्शा गया इसीलिए उसको दूर कराइए ये ना अग्नि अभी तेज सोपी क्लेश विजितवंत तथा इंद्रो देवान भी सन वह ब्रह्म अत्यंत बुद्धि ही हमारा आपकी क्या बस की बात है वो वाली लोग जो अत्यंत तेजस्वी वो भी उस ब्रह्म को आसानी से कभी जान समझी नहीं पाई क्या चीज है और और भी अधिक क्या कह रहा है इंद्र देवताओं का राजा होने पर भी वह भी बड़ा क्लेश से ही उसको जान पाया आसानी से नहीं जान पाया चाहे केंद्र के हिसाब से देखो चाहे के परिषद के हिसाब से देखो इतनी क्लेश पूर्वक उसने समझा जब अति तेजस्वी शताश्रम तो में नहीं आगी शतक्रु वो इंद्र पद को प्राप्त करता है और उसकी ये दुर्दशा भी इस तत्व को जानने के मामले में आम आदमी को तो कितनी प्रयास करनी पड़ेगी इसलिए यह ग्रह अत्यंत दुर्विज्ञ है इस बात को बताने के लिए ही वो आख्या उसकी दुर्विज्ञत्व को कि गहरा उसकी गहनता को प्रकाशित करने के लिए उसकी गूढ़ता को प्रकट करने के लिए कि आख्या मैं समझिए कि बगीचा पूर्ण जान लिया या तंत्र विज्ञान हो गए ये नहीं समझिए इतना आसान चीज नहीं बड़े बड़े झटके खा गए वो अग्नि आदि भी एक दिन का चला नहीं पाया वायु एक दिन को तो उड़ा नहीं पाया जिसके सामने गिरगिरी क्योंकि देवताओं भी भ्रांति से अपना विजय समझ गए विजय हुआ उस विजय का आपने साथ अहंता जोड़ दिया बड़े बड़े भ्रम में पड़ जाते अच्छा समझ जाए अरे हमने किया अरे हमने तो कहा था तभी तो हुआ जो गड़बड़ हो गया हमसे जानते नहीं इतना आदमी क्षतिदिन गिर जाता क्षण भर में कलम भी कहा गया हम नहीं जानते हम देखेंगे वो हाथ में है धर्म गया और कहता तो हम तो देखेंगे चुपके से के पैदा कर देंगे तो पकड़ा गया था ना अरे झूठ बोलने से किसी भी चीज से देखते हैं आदमी बिल्कुल बेझक तो इसलिए बता रहे हैं उसकी तो प्रदर्शन करने के लिए ही आख्या ये मान अथवा कारण वक्षमान उपनिषद विधिपुरम्बा सर्वम आगे आने वाला जो उपनिषद है उपनिषद में उपास जो भगवान खुद ग्रंथ का नाम है किस नाम से उसको सिर्फ समझना है कैसा उसको उपनिषद विधि में उपासना के पर नीचे तो प्रकार में कर दिया स्पष्ट ही उपासना परिषद उपास उपासना विधि पर को संपूर्ण आख्य को घटा लेनी चाहिए इसकी और तो और अवसर नहीं है ब्रह्म विद्या व्यतिरेकेण प्राणिया कर्तृत्व मानवता इत्य दर्शनार्थम व आख्याय ये बताने के लिए कि भाई ब्रह्म विद्या जो कोई आदमी है उसके अंदर में रहने वाला जो कर्तव्य नेतृत्व है वो मिथ्या होती है उनके जितना भी अहंकार था उनके जितना भी कर्तृत्व थी क्या कर सकते हो कहा तुम क्या कर सकते हो हम जला दे सारे संसार को हम जला देंगे लो मैंने उसकी जो वृत्ति जो था वो मिथ्या थी मिथ्या थी ना कहीं तो नहीं जला पाया सत्य था तो उसे सामर्थ्य लगा लो तेरी का ज्ञापन हो रहा है जो कुछ भी आप अपना सामर्थ्य समझते हैं कर्तव्य समझते हैं भूतल समझते हैं अहिंसा ममता पूर्वक वो सारी चीजें क्या है लेकिन एक तो दर्शनार्थ इस बात को प्रदर्शित करने के लिए था यथा जैसे उसे समझे था जय दीवार जिया दे विमाना इसे देवताओं का विजय आदि का जो अभिमान थी वो झूठी थी मुझे अपनी नहीं दी तो महाभारत में ही हुआ फिर धोने के बाद में अर्जुन वगैरह को बड़ा जन्म हुआ अगर अच्छी थी किसी को भाग डालो अच्छा है अपना खुश हो रही थी तो भगवान कृष्ण ने देखा पिता कर रही थे तो निमित्त मात्र हो सके कहा भी था एक तो भूल गया इतने विजय होते भूल गया चलो कोई रामदेव को कहा चलो चलो इधर ब्रदरिंग से पूछते ऊपर बिठा रखे हो ना इनको देखने के लिए पूरा युद्ध को देखो खुद ही पूछिए किसने किसको कितना तो बीतेगा से पूछा जाए वो बताएगा मानी है आपने कुछ किया ये समय इस युद्ध में तो गए तो बोलेगा चक्र सबको मार रहा हूँ उनकी को बांध छोड़ेंगे मैं तो जिसको दिखाई नहीं दिया तो बांधा छोड़ा तो अर्जुन देखते रहे क्या बोल रहा है जितना हमने मारा पर कहता तो था ही नहीं वहाँ मूर्ख है क्या बाढ़ मरा है मर भी चुका है क्या भगवान की उन्होंने अपना आग्रह का अनुभव करने के लिए तुम मारते थे और तुम लोग खिलौने बच्चों को बाहर छोड़ते उन्होंने कुछ किया नहीं क्या उनको समझ नहीं आया अरे बात तो सच इसके नाम क्या करता हर जगह ही बचाते हैं हर जगह तो इसमें कोई विचार क्या ना करिए द्रौपदी का प्रयोग कर लिया याद लिया तो उसके टारगेट पकड़िए जो के हाथ में नहीं गया हालत में हो गया जब दूसरे को विजय भगवत करवा रहा था तो कितना बड़ा ड्रामा लज्जावान पुरुष कर सकता है निर्लज झुक केवल धन की स्थापना इसलिए कहते हैं कि भाई ये तुम्हारी विजय थोड़ी है झूठा अभिमान उस मिथ्या अभिमान को त्यागना चाहिए ये साक्ष्य का समझे शादी जो वास्तव जो अपना ब्रह्म स्वरूप है ब्रह्म है तो वचन परम किला देवी तो मंत्र आरम्भ होता है ब्रह्म देवी विधिज्ञ तस्य ब्रह्मण विजय देवा अमहंद क्षंद अस्माकं देवायम विजय अस्माकं महिमे पूर्वोक्त लक्षण श्रोत्र श्रोत्र इत्यादि से कहा हुआ प्रायः जो पूर्वोक्त ब्रह्म है वही देवताओं के लिए विजय को प्राप्त किए इनका ब्रह्मणो विजय उस ब्रह्म के विजय में देवा अमहिंद देवता लोगों ने जो है कंडवाली बन गए हिंदा तो अमहिंद अपने आप को निर्माणित हुई और इस बात को भूल करके पाई क्षमता वे देवताओं ने सोचा कि भाई अस्नातम निर्वयम ये हमारी विजय है और यह हमारी महिमा है अस्नातम निर्वयन महिमा भ्रम कर ब्रह्मा यथोप्रचनम ब्रह्म किला देवी की अर्थाय जिज्ञ स्त्रोत्र से स्मृति क्या लिया है यथोप्रचन तो ब्रह्म परम किला देवी अर्थाय देवता या प्रयोजन दूसरे तो सिद्ध में प्रयोजन क्यों होता है अपना कोई प्रयोजन भी नहीं था ब्रह्म ने अपना विजय कर लिया किस लिए विजय किया उसका अपना कोई लाभ है उसमें कुछ भी नहीं देव्य अर्थाय विजिज्ञ ब्रह्म जो है देवताओं का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए ही अन्य अनिल उसके ही भावना थी जो देवता लोग अश्वन से विभूत हुए हैं इस विजय के द्वारा देवता निर्माणित हो गए तो पूर्ण अपना सरकार को चला ले इसीलिए हम विजय प्राप्त करें जयम लगभग देवानाम असुराम च संग्राम असुराम जिसका जगदराती ईश्वर से देव देवा और असुरों के संग्राम में जीवन लगभग जय को प्राप्त कैसे तब जगत जगदराती ईश्वर से द्वित्री दूसरा विशेषण दिया को असुर कहते हैं जगत के विरोधी जगत रक्षक नहीं जगत रक्षक राति कहते हैं रक्षक राति रातम परायणम विघ्न ठीक है राति है कौन रक्षा करने वाला और आदि कौन है भक्षक ये असुर क्या है जगत के भक्षक है बेटा और ईश्वर के द्वारा स्थापित जो सेतु मेरी मर्यादा धर्म की मर्यादा को भेदन करने वाले ईश्वर से तो भेत्री ईश्वर के स्थापित जो सेतु है सिद्ध क्या है मर्यादा सिद्ध यही होता है जिसमें जो शरीर के तट को आपस में मर्यादित करके जोड़ देता कि ईश्वर ने इन मनुष्यों को परस्पर संबंधित करता है मर्यादा स्थापित किया आप एक काम करो ब्राह्मण तो एक काम करो क्षत्रु तो एक काम करो विश्व काम करो सब उल्टा पुलटा कर इस सत्य को भंग करते भीगन करते जो वे असुर हैं ईश्वर से तो व्यक्ति फलम चाय देवताओं को के लिए वह जय और जय का जो फल है वह जय जगत जगत स्थिति के लिए ही उन्होंने किया इसके माध्यम से यदि व्यवस्था नहीं रही संतुलन बना रहेगा तो स्थिति जगत की बनी रहेगी नहीं तो जगत असंतुलित से असंतुलित हो जाएगा देवता और असुरों के दिन में देवता हार जाते असुर बढ़ जाते सब कुछ असंतुलित हो जाता इसलिए जो है जगत की स्थिति के लिए ही उन्होंने वास्तव में कुछ देवताओं को जय प्रदान किया तस्वीर ब्राह्मण जो उस ब्रह्म का विजय हुए देवा अग्नियादो अमजिंत अग्नि आदि देवता लोगों ने अमजिंत महिमान प्राप्त महिमा को प्राप्त हुआ आत्मसंत सत्प्रत्यात्म ईश्वर से सर्वज्ञ से सर्व क्रिया फल संयोजित प्राणी नाम सर्वशक्त है जगत स्थिति हो अयम महिमा चेती अजानता ये देवताओं ने ये बात को नहीं जानने क्यों अभिमान अगर अहंकार आ जाता है असली बात अंदर छिप जाता है इंद्र इस अभिमानी कारण से क्या हुआ कहते आत्मसंतुष्ट आत्मस्वरूप स्थित जो प्रत्येगात्मा वे क्या है ईश्वर से सर्वज्ञ से ईश्वर सर्वज्ञ है ये जो प्राग्ञ है वो ईश्वर जिसे कहते हैं तो ईश्वर है वो सर्वज्ञ सर्व क्रिया के फलों संयोजित प्राणियाम सर्वशक्त है प्राणियों में विद्यमान सगल शक्ति स्वरूप ही है जगत की स्थिति करने की इच्छा से उन्होंने विजय को प्राप्त किया अयम विजय अयम जीव मेरी माचा जगत की स्थिति का इच्छा से ही उन्होंने इस जय को प्राप्त किया और यह महिमा से महिमानित हुए इस बात को अजानंद न जानते हुए देवताओं ने ऐसे संकल्प किया विचार किया चिंतन करने लगे क्या अग्नि आदि स्वरूप से छिन्नात्म कर दो अस्वागम विजय हो अग्नि आदि स्वरूप से परिचिन्न अपने जो है आमदा ममता से विशिष्ट आत्मस्वरूप जीव भाव को प्राप्त हुए हम ही जो है इस विधि के कारण है अस्माकम वह महिमा हमारे ही कारण से महिमा हमें प्राप्त हुई है अग्निवाय विलक्षण हो जो घरभूत हो अस्माते अग्नित्व वायुत्व इंद्रत्व रूपा जो जय फल का कारणभूत है वो अपना अनुभव हम लोगों के ग्रह अनुभव किया जा रहा है इसलिए निश्चित रूप से न अस्मा प्रत्युगा ईश्वर कृपा इसलिए हमारे को ईश्वर कृत्य नहीं है ईश्वर कृषि महिमा हाँ, तो नहीं है जो अपनी महिमा है अपना विजय हो ऐसे समझ केवल मिथ्याभिमान बताओ इस प्रकार से मिथ्याभिमान पूर्वक इच्छा निरीक्षण में विचार करते हुए उनके सामने बड़ा नाटक होकर दिया तो देख था ना तुझे कृष्ण बरबरी के बाद मिल जाता खुद नहीं बोला अरे मेरे वजह तुम लोग तुम लोग क्या कर सकते ऐसा भगवान ने नहीं कहा तुझे चलो बरबरी की कहा वो बताएगा क्या कर कौन कितना मारा है क्या हुआ उसी का ध्यान मारे क्या करोगे सीधा ब्रह्म हो तो कैसे बोले हाँ मेरे वजह हुआ है तुम लोग जैसे नहीं कौन मानता अरे चल चल तुझे भाई तो नहीं हुआ युद्ध भूमि में कर दी तुमसे तो, तो क्योंकि भगवान कह भी देती पहुंचे वो क्या कहते अरे तुम जो औरत चलाते तो गोरे हाँक दे रहे हमने वहां कुछ किया वो तो यही कही तो वो तो गोड़े हाँक दे रहे तो बड़ा था इधर से उधर से उधर को तुम जो कुछ किए ही एक बार थोड़ा गुस्सा में आकर के भीष्म को मारने के लिए थोड़ा उठा और फिर आके चुका रहे मारा कहा मार तो मैंने तो <laughs> ऐसा लोग तो कह सकते हैं इसलिए भगवान कृष्ण अपनी बात को सफल नहीं है तो वहां जहाँ सोचा एक बार तो अच्छा तो पता नहीं क्या दिमाग खराब हो जाता कभी कभी लोगों की अच्छा विद्वान था पढ़ा लिखा नहीं तो वो ईर्षा देश के साथ वो गया अरे भगवान से तो कुछ करे पूरा नहीं करो पूरा प्रस्तान लघु प्रस्तान भी पूरा नहीं क्या है भी तो हमने थोड़ा बहुत पढ़ा कर उनसे उनकी पूछो कि हमें कितना जाओ उनका रिश्व जाओ महाराज जी लो उनसे पूछो उन्होंने हमें कौन से कौन से कौन और उस समय योगिंद्राम जी जीवित थे उनका योगिंद्राम के पास जाके कुछ नहीं बोले कि हमने बृहद प्रस्ताव का नाम मात्र से पूछा था कि उनको पढ़ा तो तो दिया समय तो विष्णु करा लेती ना हमने नाम तो विश्व बना लिया होगा यह पढ़ा तो भी हम उनसे उनसे जाके पूछते हैं तो बता देंगे उन्होंने हमको क्या तो बंद हो गए तो जो लेकिन जिनके सामने कहा था वो महात्मा जाके छोड़े वो भी ऐसी जिद्दी थे उधरे रहना उनसे पूछे पूरा मेरे प्रस्तान पूरा पढ़ा है कृषि क्षेत्र में उनसे पढ़ा था कहीं ऋषि मैंने उनको पढ़ाया विष्णु बता दिया अच्छा फिर लेकिन महात्मा जब तो योजना तब जाते उसे पहले वो पिल्लर को शंकर समाधान भी कर लेता था जो आया मेरे पास हम हमसे गलती होगी हम तो इसके बातों पर भूखा खा गए तो कोई बात एक बार प्यार तो कर्म था इतने देर तक तुम्हारा भूखा खाएगा तो बीत गया आप तो स्मर गया समझो और काम हाँ, आगे बोला अपने पढ़े लिखो अभी बोलो पढ़ते हैं काफी समझते हैं पहले तो मुझे इस तरह से लोग करते अपनी महिमा ज्यादा करने के लिए दूसरा देख दूसरा और एक ने हम से सारा पढ़ा था और सोचता हमने सब पढ़े तो हम किसका हम पढ़ाया अरे हम कहा तो एक जो बाहर ऐसे चला गया था आज जब दिन के लिए कुछ पूछने पूछने तो ऐसे हमने बाद में सब अपना से पढ़ा तो पंद्रह दिन का गाइडेंस में तो कुछ होता है किसी तो होता है तो पंद्रह दिन में आया तो एक के साथ उनकी सारी जो है गुत्थियां सुनेगी अपना बाकी गुणा जान लिया होगा ये कैसे कहता है कि हिंदुत्व पढ़ाई ये तेरी करे पर हिंदू थोड़े बहुत गुना लोग ऐसे झूठे गुना जब इंदिरा भी ने ऐसा हो गया तो ये सब बेचारे बेचारे तब शांत जन्म के द्रोह प्रागत हुआ पर न विदात क्षमिति तब शांत जज्ञान देवताओं के अभिप्राय को उस ब्रह्म ने जान लिया ईशान अभिप्राय अभिमान पर ब्रह्म विज्ञ वो ब्रह्म ने जो उसका अंत में है ना सभी की अभिमान है ब्रह्म तो बोला ही है तो हृदय अगर बैठा हुआ है इसलिए जैसे आप मन में विचार भी लाओगे तो सब जब उसको पता लगता है इसी के अधिष्ठान में उसी प्रकार से आपका विचार प्रकाशित हो रहा है इस प्रकाश को जानकारी हो गई या क्या दिखाई पुंज रहे ग्रह प्रादुर्भ हुआ पुंज सामने विशाल प्रकाश पुंज के रूप प्रकट हुआ पुंजता तब ज्ञान होता तो दिव्य प्रकाश पुंज के ब्रह्म को इंद्राजी ने नहीं जान पाई क्यों कोई अच्छी होती ये पुंज दिव्य तत्व क्या है वो हम नहीं समझ पाए क्या है ये ऐसा मिथ्या इच्छा विजिज्ञ विज्ञापन ब्रह्मा तद्भक्तिशा वायु है जो करेंगे तेषाम किला मिथ्या क्षण इन कर्मों का यह जो इच्छा अभिमान संचार था उसको पद ब्रह्म विज्ञान बड़े विज्ञापन उस ब्रह्म ने जान लिया कैसे जान लिया सर्वे क्षेत्र ही सर्वभूत प्राण प्रयोग प्रकार देवान विद्या ज्ञान उपलब्ध नई असर्वदेवाहन अभिमानात अभिमान किया कृपा ही है उसकी कृपा से उस प्रकार समझाने के लिए कहीं ऐसा हो ये मिथ्याभिमान से मारे न जाए इस मिथ्याभिमान से दिल्ली बनाई मर गए और ये भी मिथ्याभिमान कर रहे अर्जुन आदि ये भी ना मर जाए अग्रम करने लग जाए पाप से दिन मरे उनको भी मारा पड़ेगा ना स्वयं भगवान ही मार डालेगा उसने कहा भी अधर्म को उसको मार देगा तो ये भी भी आधार पक्ष में चले जाएंगे ये भी यदि आप लोग झूठा अनुमान करने लग जाए तो लोग करने लग जाएंगे तो ये भी ना मारे जाए इसलिए पर कृपा करने के लिए ही बरबरी के पास ले गए उसी प्रकार यहाँ ब्रह्मा जी भी ब्रह्म जी क्या किया एक देवता लोग भी कहे ऐसे ना इसी झूठे अभिमान के चक्कर में गड़बड़ करने लग जाए कहीं तो हमें उनको बीमार न करें इसलिए उन पर कृपा करते हुए जान करके प्रकट हुए कोई करे वह समीक्षित्री है सभी का इच्छा को जानने वाला है और सर्वभूत कर्ण प्रयोग करता क्योंकि सकल भूत कर्णों का प्रयोगता वही है सभी प्रकार की क्रियाकलापों का ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति रूपेण विद्यमान और परमात्मा का भी शक्ति होंगे इसलिए अपने अंदर जितनी भी ज्ञान शक्ति या क्रिया शक्ति है वो सब उसी परमात्मा का ही शक्ति है पृथक तो है नहीं इसलिए प्रयोगता होने के नाते गुरुवानंद देवान मिथ्या ज्ञान उपलब्ध देवताओं का हो अंदर होता हुआ उस मिथ्या ज्ञान को जान करके अनुभव करता हुआ नहीं वह असुर विवाह इत्याभिमान करते हैं असुरों के समान एक देवता लोग भी मिथ्याभिमान की वजह से इनका भी पराभव न हो गए सदन कम गया वेगा मिथ्याभिमान अपनोदन अनुग्रहण उन पर अनुग्रह अनुग्रह करते हुए प्रसार करते हुए मैं इन देवताओं का मिथ्याभिमान को दूर करूँ इस भावना से इस विचार से या इस निश्चय संकल्प से के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए प्रादुर्भाव के सामने प्रादुर्भव प्रकट हो गयी स्वयं महात्म निर्मित अत्यद्भुतेन विस्माकनीय रूपेण स्वयोग महात्म निर्मित योग क्या है स्वयोग महात्म निर्मित कार्य को अनुग्री एक पंक्ति बहुत सुंदर है सत्यम से पंगताम प्रयाणाम गुणाणाम गुणा युक्ति सत्य इन तीन गुणों का ये योग है वही यहाँ पर युक्ति है वही यहाँ घटनम टीका भी अपनी चेक टिप्पणी योगो न योग का ये नहीं समझना इन गुणों का सम्मान कर दिया इतना ही नहीं है किंतु तस्य सदागम उचित रूप से उत्पादार क्योंकि वह सदातन वस्तु है लेकिन मतलब ये उचित रूप है वो भी गुणों के वजह से उपाधि को धारण किया है निरुपाधि को हुआ स्वरूपाधिक अत्यंत सूक्ष्म दिव्य तेजो में पुंज बन गया दूसरे एक बार आता है ना शिव बहन स्त्र में ब्रह्मा और विष्णु दोनों तो के अंदर अभिमान हो गया मैं श्रेष्ठ देवता हूँ मैं सिटी में रचना करता तो तू क्या पालन करता ब्रह्मा जी से दुनिया अब जो है विष्णु कहता है कि मैं पालन न करता तेरी सृष्टि इतनी बढ़ जाती कंट्रोल कौन करता कैसे चलता तू तो पैदा करते ही जाता अरे हम तो पालन करने के लिए इधर उधर कान छांट करते रहते हैं तो हमला करे तो तुम्हारा क्या हो तो कहा डालता जाने की जगह भी तो चाहिए तुम पैदा करके डाले ना जगह नहीं होती अब तक तो। हम जो है अधर्म को अधर्म वालों को मारते जाते मारते हैं मारते हैं को हो को मार डाला और वे सब कहा जो है मृत्यु को तय कर दिया तो ये नहीं करता संभालता नहीं इस प्रकार व्यवस्थित करके तो पैदा करके डालेगा तो मेरे बिना तेरा नहीं चलता बोले मेरे बिना तेरा नहीं चलता दोनों मेरा तेरा करके तो उसने क्या किया भगवान ने शंकर ने देखा तो ये बड़े जो आपस में दिन वास्तव बिगड़ रहे हुए हैं एकदम दिल भी जो है अनल व पूषा मनुस्त्र में शब्द दिखते हैं अनल व पूषा एकदम दिव्य तेज में अग्नि में पूछ करके तक तो ये क्या है महाराज करता है ब्रह्मा जी कहता है सहन ऊपर जाऊंगा देखो कहा से शुरू हुआ है और तुम नीचे जाओ नीचे को देख जाओ कहा का अंत ऊपर नीचे दोनों गए नहीं ना आज ही पकड़ गया ना हम पकड़ गया मुझे आज आलिंग तो है नहीं तो सवाल है नहीं पाया उसका आलिंग कहा नहीं मिलेगा ज्यादा गए तो वही माया दिखाई देती है दूसरे लगता है आकाश जो कोई खत्म हो गया पहाड़ है ना उसके पीछे खत्म हो रहा है वहां जाएंगे आकाश से सोने को पकड़ लेंगे कड़ाई पीछे लग रहा है लेकिन वहां जाओ तो लगता है उसको पहाड़ आगे दिखाई वहां जाओ तो वो और आगे दिखाई देगा वो है ही नहीं अनंत है तो माया ही है जितना देखो बाहर उतना ही उसके जो है और आगे बढ़ते जाता है इसलिए कहते हैं कि देखो कि ये जो चीज था ये विद्या है सदा तरफ तेरा सार विचित्र रूप से आप इतना पापा का पाता तो चष्टि घटनम माया महात्म्य कल्पांशुति घटनम यदापेक्षम गुण प्रदाय भाव विवर्तनम यावत जैसी अपेक्षा होती है वैसे सतरस्तम तीनों गुणों का गुण प्रदान भाव से पुरुषणा को कर सकता है साच में यथा ही इंद्र ज्ञान को जैसे जो है अहिंद विचार क्या करता है अपनी मर्जी से जो वस्तु जैसे चाहिए वैसा कभी रजोगुण प्रदान कभी सत्य गुण प्रदान कभी जो है और अच्छा, प्रधान वस्तु निर्माण करते करते आगे दिखाते रहता है उसी मेरे परमात्मा ने क्या किया ब्रह्म ने सत्गुण प्रधान दिव्य पुंज को प्रकट कर दिया स्वयोग महात्मित स्व का जो योग स्वस्थ योग हमने माया का जो गुण प्रधान भाव रूप विशेष स्वरूप जिसमें सुख प्रधान रजोत्तम गौर रूप हो ऐसा विशिष्ट योग का द्वारा अपनी महत्व से निर्मित इसको अत्यभुत विस्नापनीय अत्यंत आश्चर्यचकित करने वाली रूप से देवानाम इंद्रिय गोचरी देवताओं का तो सूक्ष्म इंद्रिय के विषय बनने योग्य होकर के प्रकट हो गए इंद्रिय सन्निकर्ष योग्य देश क्या इंद्रिय सन्निकृष्ट योग्य देश में रखा तत्प्रागृत जन्म न इस प्रागृत ब्रह्म को वे लोग नहीं जान पाए लोग ने विवाह नहीं जान क्या नहीं जान पाए किसम से नहीं जान पाए पूजन महाभूतम यक्ष जो पूज यक्ष पूजन धातु है इधर यक्ष पूजन कर्मणीय सृज इसलिए अक्षम पूजन महदभूतमिति महदभूत मैंने महान सत्य अपना भूत सबसे सत्य लेना तो महदभूत मैंने महत्व सत्य महान सत्य विशेष जो है ये क्या है कोरोना ने फिर सोचा आपस में बैठ गया इसको समझने के लिए है कि बोले जाए जो क्या है समझाएंगे हिम्मत किसी को है ना इसमें किसी को तुरंत जाननी नहीं पड़ेगी पहले इसे थोड़ा आदमी को प्रशंसा कर दो आप महान आप जात वेद हो ये जनता सबको जानते हो अभी क्या आपकी बड़ी चीज क्या देखो तुम क्या है बिना उसका चलेगा नहीं जो हार गया है ना भाई को तो विशेषण देने की जरूरत नहीं पड़ता है तुम नहीं क्या क्या मैं करूँगा वो आगे बढ़ता और दोनों फेल हो गए और क्या रास्ते ही दादी छोटे ही बेचारे होते हैं चुप हो किनारे हो गए ये बड़े बल हार जाए तो क्या करेगा अब राजा को सामने होना पड़ता जात वेदा एक विजानी किमेन दक्षिणी तथेती वे अग्निम अग्रवन तो वे सभी देवता लोग विशेष सिंह अग्रवन होकर के अग्नि को कहा हे जात जन्म से ही जो सबसे जान लिया है जन्म तो सर्व तो ज्ञान आदि जात वेदा ये चलेंगे परिवार ज्ञान सर्व के कल्प मिली तथा जो निरूपम निरूपया तो पर्दा जात वेदा अस्मान जाता निवेद इत्यादि किसी से भी उत्पन्न हो कस्मा मैंने आकाशादि में उत्पन्न सन जाता वेदा सब कुछ जान लिया उत्तर शब्द के दैव कांड का पंचम पाद जो प्रथम श्लोक में है प्रबंधन तो ज्यादा वेदा संबोधन कर दिया और कहा एक विज्ञानी बड़े इसको जानिए कि मेरे लक्ष्मी की यह लक्ष्य क्या है इसको आप जान के बताइए उसने कहा पृथ्वी कि छूटेगी विज्ञान का वह उसकी ओर दौड़ दिया दौड़ के गए तो इतने कौन तुम ऐसे उसने से आवाज आई तो भद्रा के खड़ा हो दौड़ रहा था तो वहां से कौन हो अग्नि वाहम अस्मी जात वेदो वाहम अग्नि अरे मेरा मेरे को लोग अग्नि नाम से और मेरा सामर्थ्य जानते हो मैं जात भी हूं समझ लो बड़ा अहंगार से बोल रहा तब तो क्या चलेगा उसको पल जानंत देवा पल जान दो ब्रह्म न जानते हुए ते देवा वे देवता लोगों ने भया सबके अंदर भय घुस गया घटित क्या प्रकट हो गया अंदर के अंदर डर के मारे उन जो है तब विजिज्ञास हो तो उनको जानना भी चाहते है क्या चीज है अचानक ऐसे आ हम लोग के सामने अग्नि अग्रगामी नम अग्नि क्यों है उसका नाम अग्रगामी उसका नाम अग्नि अग्नि अग्रगामी नम का अग्नि कस्मात भवदी दी चौथे खंड में में उत्तर छठ के देवन कांड के चौथे पाद में बात कहा गया है अग्रगामी होने से उसका नाम अग्नि पड़ा उत्तर षठ चतुर्थे टिप्पणी उत्तर षठ के दीर्घ कांडे चतुर्थ पारे नीचे है ना उत्तर के चार नंबर टिप्पणी में उत्तर षठ के दीर्घ कांडे चतुर्थ पारे आकर जातवेश उत्तर षठ के उत्तर षठ के दीर्घ कांडे पंचम पारे प्रथम अंतर तो चौथे पाल में था अग्रगणी और कर दिए और पंचम पर्व जो है जागरूक अग्रगामिनम जाते सर्वज्ञ कर जाते समय सर्वज्ञ के समान हो अग्रगम उत्तम तो से कहा क्या कहे हे जात वेद एक अस्मात गोचर स्पन्न यह जो हम सबके इंद्रियों के समक्ष उपस्थित इस यक्ष को आप जानो विशेष तो बुद्धि उसको सामर्थ्य जान रहे हैं तो कोई चीज हमारे सामने है किंचित निगम लेकर प्रज्ञा शब्द हो रहा है लेकिन किन्हीं पर विशेष जो है ना उससे विकल्प ज्ञान नहीं हो रहा है तुम उसको विशेष रूप से जाओ तब मैं तेजस्वी उनकी तुम हम सभी में तेजस्वी हो उनको तुम जात में हो इसीलिए किन्हीं की बुद्धि स्वयं